जरा नृपहि सिर नाये किन्हीं बहुत विधि विनय बड़ाई देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आ ग धार देय धरि गवन महिषा मुनिमहिदे साधु सन विदा किये हरि हर समजान छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया आप समाज सहित वन में आए अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदे पग आशीष पाए कौशिक बाय में देव जा बाड़े परजनपरि जन सचिव सुचारी यथा करी विनय प्रण विदा कि नारी पुरुष लघु रे सब सन माने कृपा निधि फेरे तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया भरत मातु पद बंद प्रभु सुच सने हमिल भेट बेदा किन्ह सज पालगे सकुच सोच सब मेरी भरत की माता कई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सौदा कर उनको विदा किया परिजन पिता ही मिल सीता फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणाम भे सब सासो प्रीति कहत कबीर न भुलासो सुनि सिखय भीमत आशिष रही सिय दुहु प्रीति रघुपति पदुपा लकी मगाए पति पटु पार लगे मंगाए करी प्रबोध सब मातु चढ़ाए प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया बार बार हिले मिले दो भाए समसने हुजन जन ने पहुँचाए साज बाज गज बाहन नाना भरत भूप दल के न पया रामुषिय लखन समेता चले जाहे सब लोग यचेता बसह बाजी गज पशु हारे चले जाहे पर बस मन मारे दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मनमारे चले जा रहे हैं गुरु गुर गुर पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत फिरे हर्ष विषा विषमय सहित आए पर निकेत गुरु वशिष्ठ जी और गुरुपत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए